يا जहाँ चाहे मनोहराय सोपान सुंदर नीरन जमलते किशोर मनमोहनी

ब्राह्मण प्रकार के तीर्थकरण बाजार के बाजार के दुकानदार लोग वहाँ लोग सामान अभी भी कह सकते कि दुकानदार सामान बेचने वाले करते वहाँ पर विद्रोह करने वाले रहते सरकार ने कुछ लिए हुए हैं जैसे वो उनको बाकी देने के लिए हैं उनका मोल भाव तो करते नहीं देते उनके कैसे नहीं देते इस प्रकार से सब लोग अपना अपना कर्तव्य पालन करते हैं तो उनको सबकी आवश्यकताएं भी पूर्ति होती रहती है कोई जैसे वो अपने अपने स्वास्थ्य के लिए और उस प्रकार से व्यापार के द्वारा अपने धन शक्ति करके और अपने आप को संपन्न बनाने की कोशिश कर भी करता है इसमें संपन्नता में किसी का विश्वास नहीं तो व्यापार करो प्रॉफिट कमाओ ज्यादा कमाओ तो ज्यादा सामग्री इकट्ठी करो तो ज्यादा जाओ उनका धन तो उनके पास बहुत है लेकिन किस प्रकार का नहीं है कि जो उसमें लाभ अर्जित करके उन्होंने किया उनके पास सामग्री जब बिना पैसे की जाती है तो खूब आती है भोग सामग्री के ये हैं ले लेकर के उसको बाजार में सबको देखते हैं कभी किसी प्रकार से चलता है ऐसा लगता है राशि का ये कहना है कि लोगों की दरिद्रता तभी तक है जब तक परमात्म को छोड़ करके स्वास्थ्य और अहंकार में पड़े हुए जीवन जीते हैं तो कितना भी प्राप्त करने कुछ भी कर लें हाय बहुत करें परेशान बहुत हों लेकिन उनकी दरिद्रता कभी नहीं जाएगी दरिद्रता तभी जाती है जब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीता है और उसी के प्रकाश में उसी के प्रभाव में भौतिक जीवन भी जीता है तो उसका जीवन दूसरे ही प्रकार का है बिल्कुल भिन्न प्रकार का भौतिक जीवन से दूसरे जीवन से कितनी प्रकार का कह सकते हैं भौतिक जीवन में जहाँ स्वास्थ्य प्रधान है धन प्रधान है यहाँ आध्यात्मिक जीवन में परमात्म प्रधान है दूसरे का कार्य करना सेवा करना दूसरे के लिए करना मुख्य बात जैसे हम साधारण रूप से सोचते हैं कि हमें क्या मिल जाए कैसा रंग मिल जाए कैसे कुछ मिल जाए कैसा रंग मिल जाए हमें क्या हो जाए हमें क्या हो जाए तो सारे विचार करने का केंद्र बिंदु हम अपने आप को बना देते हैं अपनी सुविधाएं शरीर के लिए मन के लिए उन्हीं के लिए करते रहते हैं परमात्मा की दृष्टि से इसकी तो कुछ बात नहीं उधर तो ध्यान देने नहीं अपनी तरफ दूसरे जगहों के लिए ध्यान देना समाज में सब लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं उनके लिए करने के लिए क्या हम सब यही सोचते हैं कि किसके लिए क्या क्या हमारी उपयोगिता हो सकती है कहाँ कहाँ क्या काम कर सकते हैं क्या दे सकते हैं क्या सेवा कर सकते हैं बस यही विचार करते हैं इसलिए हमें श्री रामचरित मानस ने बोला कि दो प्रकार की स्थितियां हैं एक तो प्रतिदिन जीवन जीने वालों का जीवन और विश्वास में व्यक्तियों के जीने वाले जीवन इन दोनों में विश्वास में जीवन जीने वाले हैं वो सदा अभाव में ही रहते हैं संकीर्णता में ही रहते उनको कभी प्रचुरता प्राप्त नहीं होती पूर्णता प्राप्त नहीं होती लेकिन जब परमात्मा जीवन जीते हैं परोपकार के लिए जीवन जीते हैं जब भी व्यक्ति को विश्वास नहीं होता जब हम दूसरे के लिए करेंगे तो हमें पूर्णता कैसे आ जाएगी हमें प्रचुरता कैसे प्राप्त हो जाएगी ये लगता नहीं है लेकिन अगर ऋषियों पर मुनियों पर विचारकों पर संतों पर भरोसा करें शास्त्रों पर भरोसा करें तो सिद्धांत यही है कि परहित बस जिनके मनमानी तिनका जग दुर्लभ गत नानी उनके लिए तो संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं जो वो अपने जीवन का उद्देश्य बनाने के जो कुछ हमारा जीवन है वो समाज के लिए समाज भी परमात्मा का स्वरूप है वही परमात्मा ही समाज के रूप में व्यक्त है परमात्मा भाव से सब लोगों की सेवा करना उसी में लगे रहना ये परमात्मा और जब तक ये प्रवृत्ति अपने मन में उत्पन्न नहीं होती और व्यवहार से जब तक ये आता नहीं तब तक परमार्थ या अपने आध्यात्मिक विकास को ही माने कि हमारा आध्यात्मिक विकास हो गया ये ज्ञानवान हो गए भक्त हो गए कुछ भी संदेश प्रकार का तो उसमें वो सिद्धांति मात्र है अभी से कुछ हुआ नहीं अभी वो साधना करता है समझने की कोशिश करता है उसी सिद्धांत के आधार पर ये भी उसी के साथ साथ हरित वर्जन के मन मानी उसी के साथ साथ ये भी ये अत्याराम में सब जगह जानी कर्म प्रणाम दूर दूर पानी दोनों बातों के साथ कि समस्त जगह परमात्मा का स्वरूप है नाम रूप जो दिखाई दे रहे हैं वो सीता स्वरूप अधिष्ठान रूप में जो सब विद्यमान है वो परमात्मा स्वरूप परम परमात्मा और माया से नाम रूपात्मक जगत यही सर्वत्र है और बस इसी उसकी इसी भाव से जगत की सेवा करना ही परमार्थ है वैसे तो जिन लोगों को अपने हृदय में आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान या भक्ति प्राप्त हो गई है तो वे सभी लोग इसी कार्य में लगते हैं संत लोग जितने भी प्राचीन हुए हैं उनके जीवन को देखो तो समस्त जीवन उनका लोक कल्याणकारी के लिए लगा रहा उसी के लिए प्रसन्न करते रहे उसी के लिए साथ जीवन जीते रहे उनका तो कोई दिया है लेकिन एक दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से अपनी बुद्धि को समझा दे और साधना काल में ही परोपकार के कार्य में लगे समाज सेवा के कार्य में लगे तो उसको भी आध्यात्मिक चेतना प्राप्त करने में देर नहीं इसलिए भगवान ने जगह जगह सर्वभूत हिते रता भी कहा ये साधना का मुख्य अंग सर्वभूत हिते रता अब बस जो ये कहे कि कौन दुनिया के चक्कर में पड़े अपना स्वार्थ देखो अपना काम देखो तो बस फिर वो अपने स्वार्थ में रहेगा और भौतिक जीवन बना रहेगा आध्यात्मिकता का जो आनंद है और जो उसकी बुद्धि का विकास है वो नहीं होता है जब व्यक्ति समाज सारे समाज की सेवा करने के लिए उद्देश्य होगा तो उसका सबसे संपर्क होगा बिना आया किए हुए संपूर्ण समाज से जहाँ कहीं जाएगा जहाँ कहीं रहेगा उनके साथ सबके साथ जो है एक प्रकार का संबंध सबके साथ हो जाए और वे सब लोग उस व्यक्ति की देखरेख करेंगे उसकी सहायता करेंगे उसकी जहाँ आवश्यकताएं होंगी उनकी पूर्ति करेंगे यहाँ पर सब देखता है कि वो भगवान के साथ वचन गीता में कहते हैं अनन्याश्यंतयन तो माम योग क्षेम में कि मैं योग क्षेम इसका मैं दान करता हूँ तो योग स्वयं दान करने के माने अगर कोई व्यक्ति परोपकार के कार्य में लगा हुआ है तो उसको अब उसकी पूर्ति आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से होती है तो आप कहेंगे समाज करता है समाज की सेवा करता है तो समाज इसके बदले में उसकी पूर्ति करता है लेकिन किसी के मन में उसकी पूर्ति करने का भाव क्यों आता है समाज में दो व्यक्ति गति है वो हो जो कुछ दूसरा दे रहा देख ही रहे चुपचाप बैठे लेकिन ये भी देखते हैं कि लोगों को मन में आता है कि ये समाज लोग कल्याण के कार्य में लगा हुआ है इसके लिए कुछ करो तो जब कुछ करने की बात आती है तो वो व्यक्ति तो नहीं करता उसके अंदर बैठा हुआ परमात्मा ही है वो हो वही उसको फिर वही प्रेरणा देता है वही करवाता है तो इन सबको करके देखना चाहिए ये एक प्रकार का क्षेत्र है जहाँ पर की अपनी प्रैक्टिकल करके सिद्धांत की बातें हैं आप स्वयं करके देखो इस प्रकार समस्त लोग कल्याण के कार्य में लगो फिर देखो कि किस प्रकार से भगवान योग संपादन करता है किस प्रकार से समाज हमारे देश के स्थान करता है ये सब बातें उसको सबका अनुभव करो और फिर अपनी बुद्धि का विकास देखो एक तो परिवार में मेरे पुत्र मेरे माता पिता में कितनी एक संकीर्णता ये और एक यहाँ पर विषम अपने समाज धर्म वो इस सब जाति के जब जितने भी छोटे बड़े देश विदेश के सब लोग अपने हैं तो अब देखो बुद्धि कितनी व्यापक हो जाती है और जहाँ से जैसे जैसे बुद्धि व्यापक होती है उसमें विशालता आती है वो परमात्मा से निकट पहुंचती जाती है समस्त बुद्धि परमात्मा से सबसे अधिक निकट है और जैसे जैसे परमात्मा की निकटता आती जाती है वैसे वैसे आनंदानुभूति होती जाती है व्यक्ति उस व्यापक बुद्धि में अधिक आनंद का अनुभव करता है तो उस आनंद का भी अनुभव प्रैक्टिकली देखो कि आनंद वो आनंद क्या चीज है वो जिसको कि संत लोगों ने अनुभव किया शास्त्र जिसके लिए कहते हैं उसको अनुभव करके देखो उसको सर कई व्यक्ति केवल देखते देखते रहे कि शास्त्रों में ऐसा दिखा गया है ऐसा दिखा गया है तो कहते हैं कि ऐसा होता है लेकिन कौन करे इसकी हिम्मत कौन करे कि परमात्मा के लिए जुट जाए अपना स्वास्थ्य कहीं न रखे कौन हिंजट में पड़े बहुत लोगों को थोड़ा बहुत प्रारंभ में करना भी शुरू करते हैं तो बस जहाँ दो चार दिन दस दिन महीने पंद्रह दिन थोड़ा बहुत किया अरे साथ बार झंझट क्या झंझट है अरे कोई मानते ही नहीं अरे साहब कोई सुनते ही नहीं अरे साहब कोई कोहरे भी नहीं करता अरे साहब वो ऐसे हैं अरे साहब वो ऐसे हैं इससे अच्छा अपना घर चुपचाप ठीक है इससे पता चल जाता है कि अपनी खोखलापन कितना है असमर्थता कितनी ये सीधे करता है सामर्थ्य हो तो फिर वही सब व्यक्ति संसार में समाज में बाहर निकले तो फिर ये समस्या उसके सामने ना तो इसलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता रहे आत्मचिंतन करता रहे आत्मा को सर्वात्म भाव में देखता रहे कि आत्मा ही सर्वात्मा है वही परमात्मा है समस्त प्राणी अपने ही स्वरूप है हनी से सब उत्पन्न हुए हैं हनी में सब स्थित हैं हनी में सब लीन हो जाने वाले हैं हमसे भिन्न कोई नहीं है जैसे हम सारे शरीर में अपने में विद्यमान तो सब शरीर के संपूर्ण अंग आत्मा कानून शरीर के में सब अपना ही है हमारे ही नहीं है हमसे बाहर नहीं है ऐसे सारा विश्व जितना है वो सब हमारे ही अंदर आत्मभाव में सब सब समस्त सृष्टि ब्रह्मांड सब अपने अंदर है अपने से बिंदु कुछ भी नहीं है ऐसी बुद्धि धीरे धीरे करेगा और सब में आत्मभाव हैं सर्वात्म भाव सर्वभूति देवता परेत दस दिन के हनुमानी व्याकुल जी सियाराम में सब लोग जानी सर्वम खनिकम ब्रह्म का समय क्रम एकमात्र आत्मा परमात्मा सर्वत्र है और मेरे नाम आपके किंचन और कुछ ही नहीं इस प्रकार की धीरे धीरे करके लगातार यही तुलसीदास जी भी इन सब प्रसंगों में अपने सरल ढंग से कहते हैं आप लोगों को उपनिषदों में थोड़ा कठिन कर दिया गीता ने थोड़ा और सर्व कर दिया तो तुलसीदास जी आगे बढ़ेगा कि चलो और अनुसरण करते हैं लेकिन सरल करने में फिर उपेक्षण ही होने लगता है बहुत सरल हो गया तो कहते हैं अरे तो ऐसी बात है ऐसी बात है ये कोई खास बात नहीं तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये किस प्रकार की आध्यात्मिक जीवन की रूपरेखा क्या है और पूरा समाज का समाज ऐसा बन सकता है ये नहीं कि कोई एक व्यक्ति इस प्रकार का हो जिस समाज में सभी लोग देखें कि जीवन का तरीका यही है और उसी का अनुसरण करें उसी का लाभ उनको सबको दिखाई दे सब उसी में निमग्न होते जाए अब भी संसार में जगह जगह देश में और विदेशों में इस प्रकार की एक्सरसाइज जो करते साधना करते हैं बहुत से लोग कर रहे हैं अब ये पुस्तक हमने अभी हाल में देखी पुस्तक वो बहुत अमेरिका में व्यक्ति ने उसमें लिखी बहुत बिक्री उसकी हुई वो अपने दिखता के कि मेरे जो सिद्धांत आध्यात्मिकता के सिद्धांत है इनका हमने अपने जीवन में ला करके देखा तब हमको लगा करे वास्तव में तो ये सिद्धांत बहुत हजार साल से लोग बात बताते चले आ रहे हैं और इनका मूल वैसे समझ में नहीं आता था जो जीवन में लोग बनाए का समझ बनाया और उसी आधार पर अपने आधार पर सब पुस्तकें और फिर उन सिद्धांतों को उसने अपनी परिवार से भी किया है लोगों से कहा देखो इस प्रकार से हम रहते हैं तो अपने पत्नी पुत्र मित्र जितने भी थे उन सबको कहा कि देखो ये सिद्धांत जीवन में इस प्रकार रहो इस प्रकार रहो तो वे सब लोगों को कहे कहे उन लोगों ने स्वीकार किया और तो कहते हमारे आस पास जितना भी समाज बनता जा रहा है सब कुछ उसका बढ़ता जा रहा है और सब इस प्रकार के आध्यात्मिक भाव से जीवन जीते हैं पैसा भी बहुत आता और ये हम लोग अपने ऐसा होते जा रहे सबके सब सब संकीर्णता आती जा रही है और खाते हैं ऐसा नहीं हो रहा है अब हम देखते हैं कि संपन्नता इतनी आती जाती कुछ कहने के लिए कहा कि हमें ये पता नहीं था कि हम पुस्तक देखेंगे हमने सोचा कि हमारे मित्रों को कुछ लाभ देगी ये पुस्तक तो हमने देखकर के सिद्धांत को छोटी सी पुस्तक सौ सवा सौ गई थी वो हमने लोगों को लिख लिखा करके उनको दी दिखाई उनको तो उनको भी अच्छी लगी पुस्तक बात में लगी और एक ऑपरेशन में उसने ले ली और छापी उसने तो वहां की मीडिया भी समय बिगड़ने लगी और हमको पब्लिशर ने पैसा दे दिया इतना पैसा दे दिया कुछ कहने को नहीं इतना दे दिया कुछ कहने के करोड़ों रुपए की देखो इस प्रकार के व्यक्ति को पहले पहले पता नहीं चलता कि इसके पीछे राष्ट्र क्या छिपा हुआ लेकिन अगर कोई पैसे की दृष्टि से इसमें परेशान हो है इसलिए आप धार्मिक जीवन जियो इसलिए इस प्रकार से करो तो प्रसन्न का विश्वास आ गया और उसका जो उद्देश्य था वही न छोड़ो आने तो समा जाए लेकिन अगर उसको बना करके इस तरीके तरीका बहुत अच्छा है तो संबंध आपको बाती है इसलिए सब इसी को करो तो भावना वो करो ऐसे करके इसको सर्वत्र बने ये सिद्धांत कोई ऐसा नहीं है कि प्राचीन कालीन है आजकल बेकार हो गए हैं अब भला कौन उनको मानेगा ये पुरानी पुरानी है पीट रहे हो और इनमें क्या बातें रखी हुई है ऐसा नहीं है ये नित्य नवीन सिद्धांत अब ये बताते हैं देखो ये तो नगर के अंदर की सुंदरता है और फिर दूसरे ने कहा कि शरीर उसके अयोध्या के उत्तर दिशा में शरीर नदी निर्मल के रहा है नदी है अब नदी का वर्णन करते वो भी बड़ी सुंदर है और उसकी सुंदरता का भी वर्णन करने लगे जैसे दूर खराब रुचन सुखाता सरयू नदी पर नगर से थोड़ा हट करके नगर जहाँ बस्ती है उसके तो शरीर नदी यहाँ पास है वहाँ वहाँ से नहीं वहाँ से थोड़ी दूर और आगे हट करके किधर की तरफ हट करके आगे जिधर पानी बह करके जाता है उस तरफ और आगे हट करके दूर खराब खराब में अलग भी है और खराब में चौड़ा खुल करके फैला हुआ भी है खराब तो दूध खराब रुचे शोभा एक वहाँ पर बहुत सुंदर घाट है जहाँ से रखनी बाजी को उठाता यहाँ पर सब इनको गाय बैल भैंस को घोड़े हाथी इन सबको पानी पीने के लिए पशुओं को पानी पीने के लिए घाट बना हुआ अब वो घाट अपने घर अपना उनको का पानी पीने के लिए ऐसे है पक्का लेकिन वो स्लोप डाल उसमें सीढ़ियाँ नहीं है वो सब जाते हैं उससे ढाल से उतरते हुए पानी तक पहुंच जाते हैं वहाँ पानी पीते हैं स्नान भी करते हैं अपने पशुओं के लिए घाट अलग हैं फिर दूसरा घाट कहते हैं पलिघट परम मनोहर नाना ये नगर के पास का घाट है अब ये दूर नहीं है यहाँ पर पलिघट परम मनोहर नाना दान पुरुष करेंगे स्नाना अब एक घाट ऐसा है जहाँ से पानी पीने के लिए जाया जाता पंद्रह बने जहाँ से पानी पीने के लिए पानी लाया जाता है अपने घर में घर रसोई बनाने के लिए पीने के लिए तो शरीर आदमी को जल लाते हैं करके घर करके लाते हैं अब ये घाट जो है बिल्कुल एकदम जिधर से शरीर कह करके आती है उसमें सबसे लास्ट वाला घर है फिर दूर से पानी बहता हुआ जब आवे तो पहले पीने वाला पानी ले लो फिर उससे बहता हुआ पानी आ तो स्थान के काम आएगा तो पक्षों के लिए उसके आगे पानी पूजा कर करके जाएगा तो पशुओं के काम में आएगा इस प्रकार से जो है क्रम से घाट विचार पूर्वक बनाए गए हैं सपनगढ़ परम बनो है पनगढ़ भी बहुत सुंदर पनगढ़ है और कहा न पुरुष कहीं पर बस उस घाट के ऊपर जहाँ से पीने के लिए पानी गया था वहां नहाने के लिए कोई वहां पर अलाउ नहीं है हम्म? यहाँ पर स्नान नहीं कर सकते कोई वहां स्नान नहीं करता पानी पीने के लिए लाया जाता फिर उसके बाद जो बीच में घाट है वो राजघाट कहलाता है राजघाट सब तो सुंदर रथ वो राजघाट कहता है कि मज्जय कहाँ कर्मचार्य नर बस मज्जय मन स्नान करते हैं अब सभी के लिए स्नान करने के लिए सभी लोग आकर के स्नान वहां पर करते हैं स्नान कर घाटे तो सभी लोग कितने लोग आकर के सभी स्नान करते हैं तीर तीर देवन के मंदिर ये तो घाट हो गए तीन प्रकार के अब उस नदी के किनारे किनारे जो है वो मंदिर है नदी के किनारे किनारे ऊपर से लेकर के नीचे तक जहाँ तक नगर के सभी दिशा में सरियो और उधर से लेकर के मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर किनारे किनारे सब है तो नगर के लोग उन्हीं में सरयू में जाकर के स्नान करते हैं और फिर तट के ऊपर मंदिर है उन मंदिरों में जल चढ़ाते हैं पुष्प चढ़ाते हैं भगवान के दर्शन करते हैं ऐसे करके चढ़ाते हैं इसलिए तीर तीर देवन के मंदिर देवन प्रवचन मैंने विभिन्न देवता मैंने तुलसीदास जी बार बार बोलते रहते हैं पंचदेवों की उपासना की जाती है शंकराचार्य जी ने भी ये धर्म का प्रचार किया तो गांव गांव में ये कहा कि पंचदेवों की उपासना करो गणक गौर त्रिपुराज तमारी चार चाहिए तो और पांचवें जो है भगवान नारायण विष्णु या भगवान राम या कृष्ण कोई भी गणक गणपति गणेश जी गौरी पार्वती जी देवी त्रिपुरा शंकर जी कमाल सूर्य चार ये देवता और पांचवें जो है भगवान रघुनाथ जी ये इन पांच की यही उपासना की जाती पांचों की पूजा करें तो लेकिन अब वो वहां पर देखा था चित्रकूट में तो वो समय अयोध्या काशी जब चित्रकूट में जाकर के बस गए भगवान के पास वहां रहने लगे कि भले हफ्ते दस दिन पंद्रह दिन महीने वक्त वो समय उस बीच में ये क्या करते थे रोज वहां मंदाकिनी में स्नान करते थे और बस उनकी पंचदेवों की पूजा करते थे वहां इन पंचदेवों को नाम दिए बताए इसके मैंने तुलसीदास जी एक जगह जहाँ बताया है उसी पंचदेवों की पूजा होती है मंदिर भी इसी प्रकार से कहीं देवी जी का मंदिर है कहीं गणेश जी का मंदिर है कहीं शंकर जी का मंदिर है कहीं सूर्य देवता मंदिर है इस प्रकार के सब मंदिर सब देवताओं के शंकर जी के मंदिर इत्यादि सब मंदिर और फिर भगवान के नारायण जी का मंदिर है भगवान राम का मंदिर या कृष्ण का मंदिर या नारायण का मंदिर विष्णु भगवान का इस प्रकार के मंदिर सब हैं उन मंदिरों में सब जा जा करके उनकी शक्ति पूजा करते हैं तो पहले से पूजा करते हैं चार देवताओं की और अंत में पूजा करते हैं कि देव की जैसे शंकर जी का कोई उपासक है तो गणेश की पूजा करेगा भगवान नारायण की पूजा करेगा सूर्य की पूजा करेगा फिर फिर गौरी की पूजा करेगा और उसके बाद में फिर सब चारों की पूजा हो गई तब उसके बाद फिर शंकर जी की पूजा करेगा और शंकर जी की पूजा उसकी विस्तार से चलेगी वही उसका नाम जब चलेगा उसी का ध्यान चलेगा ये सब बाद में करते रहेंगे और अगर कोई नारायण का भगवान राम का या कृष्ण का उपासक है उनकी पूजा करने वाला है तो पहले गणेश जी की पूजा करेगा गोरी की पूजा करेगा शंकर जी की पूजा करेगा सूर्यदेव की पूजा करेगा चार की पूजा हो गई अब उसके बाद भगवान राम की पूजा करो उनका ध्यान करो उनका नाम जप करो भगवान कृष्ण का जप करो ध्यान करो इस प्रकार तो व्यवस्था स्पष्ट होनी चाहिए नहीं तो लोगों को संदेह रहेगा बार बार पूछते हैं कि हमें जैसे शंकर जी जैसे हमें भगवान श्री राम जी अब हम ये भी करते हैं वो भी करते हैं ये करो अब उनमें से किसी एक का चयन कर लो उनकी ज्यादा पूजा करो लेकिन इनका दूसरे नाराज हो जाएंगे नाराज क्या हो जाएंगे नाराज नहीं मतलब? कर सकता क्या एक ही ज्यादा करेंगे तो दूसरा नाराज हो जाए अरे कोई अलग अलग हो तो नाराज हो जाए वो तो सब सबकी पूजा इसलिए करते हैं उनमें भाव तो एक तो भाव ये कि सब अपना धर्म बहुत व्यापक है नाना प्रकार के देवता उनकी सबकी पूजा सब करने वाले हैं तो सबके सब लोगों की पूजा कर ली तो एक दूसरे में व्यक्तियों में भी भेदभाव नहीं रहा नहीं तो अब कोई शंकर जी की पूजा कर रहा तो वो सही है और विष्णु भगवान की पूजा करा तो वैष्णव हो गया अब वैष्णव सब झगड़ा हो गया अरे तुम्हारे देवता बिल्कुल बेकार अरे साहब हमारे बिल्कुल बेकार और एक दूसरे को गाली देने लगे अरे तुम्हारे देवता नहीं घूमते हैं अरे तुम्हारे देवता तो ऐसे करके लक्ष्मी जी की जरूरत आप जब किसी गंदी सदी बातें जो हो एक दूसरे के साथ में इस प्रकार के बोलते हैं तो ये कोई न अध्यात्म शास्त्र है और न कोई ये आध्यात्मिक जो है वो साधना है और न कोई ये सदवृत्ति है ये सब कुछ सब समाज में फैली हुई कुछ धारणाएं हैं और ये गलत तरीका है इसलिए इन सबको दूर करके सब में संभाव रखने का प्रयास करें सभी समान है शंकर जी की पूजा करते हैं हम शंकर जी की पूजा करते हैं वो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो उसकी भी हम भी पूजा करते हैं उसमें कोई भेदभाव इसलिए कहते हैं कि तीर्थ तीर्थ देवन के मंदिर और चौबीस दिन के भवन सुंदर और उन मंदिर जो है उनके आसपास बगीचे भी जहाँ पुष्प आती है तो लोग आग जाते हैं वहाँ पुष्प लेते हैं मंदिर में चढ़ाते हैं जल चढ़ाते हैं शरीर का इस प्रकार का पूजन करते हैं कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी सत्ता में शरीर कहीं कहीं उसी सत्ता नदी शरीर नदी के किनारे किनारे कौन लोग बात करते हैं उदासी और प्रसन्न विज्ञान रत्न सन्यासी उदासी बात करते हैं ज्ञान लोग बात करते हैं मुनि लोग बात करते हैं सन्यासी लोग बात करते हैं अब देखो तो समाज नगर में तो बात करते हैं वो तो गृहस्थ लोग हैं लेकिन अब गृहस्थ धर्म इनका भी पूरा हो गया अब वो लोग अपने घर बात से बाहर निकल आए नगर से भी बाहर निकल आए और सरयू के किनारे इस जगह जगह उन्होंने आश्रम बना रखे हैं तो उनको सरकार तीर मैंने सरयू के किनारे किनारे उनके आश्रम उदासी उदासी तुम्हारा प्रस्तुत वो लोग हो गए तो ज्ञानरत उपासना करते करते फिर जिज्ञासु हो गए और आत्मा परमात्मा की खोज करने लगे वो ज्ञान रत मैंने ज्ञान खोज रहे हैं पता लगा रहे सीख रहे हैं समझ रहे हैं इस प्रकार के लोग फिर कुछ लोग उनमें से जिन लोगों ने ज्ञान सीख लिया ज्ञानी हो गए तो अब मुनि हो गए मुनि के माने अब मनन कर रहे हैं चिंतन कर रहे हैं ध्यान कर रहे हैं अपने आत्मस्वरूप का परमात्मा स्वरूप का ऐसे मुनि लोग हैं और फिर चौथे प्रकार के सन्यासी हैं सन्यासी के मैंने अब वो निराश बैठे बैठे अपना ही मनन नहीं कर रहे अब वो निकल करके लोक कल्याण के लिए अध्यात्म विद्या का प्रशिक्षण देने के लिए जगह जगह घूमते हैं सन्यासी जब तक कि वो अपने अध्यात्म का ज्ञान अपना ज्ञान भक्ति जो कुछ भी उसने अपना प्राप्त की है उसको व्यस्त होकर के चारों तरफ समाज में गांव गांव नगर नगर में दूर दूर तक उसको फैलाता नहीं तब तक वो सन्यासी नहीं इसे सन्यासी के धर्मों में से एक मुख्य धर्म ये है तो वो एक स्थान पर अधिक देर नहीं रह सकता पहले साल तो वो एक रात से जाकर एक गांव में एक रात दूसरे रात दूसरे गांव में दूसरे रात तीसरे गांव में तीसरी रात पर सवेरे उठे कम से कम दो चार सैनिक तो चले और वहां जाकर के दूसरे गांव में चले किसी भी गांव है तो साल भर में उसे अब आ जाएगी कि हम हमारा अपना कोई घर नहीं अपना कोई गाँव नहीं अपना कोई सब शहर नहीं सब शहर सब गाँव अपने एक अब भाव है ऐसी जब भावना मन में जागृत हो कठिन जांच का भाव है अगले है कि अगले साल से फिर वो तीन दिन से ज्यादा कहीं रहते तीन दिन गया उसके बाद तीन दिन से ज्यादा